क्या है लिखना क्या है दीक्षा जी बताइए क्या है लिखना सब जो हम कसरत करते रहते हैं लिखने की, की बातें करते हैं और ये किताब और वो किताब पहली बात पहली बात हाँ, लिखना चाहते क्यों क्योंकि जो आमतौर पे जिस तरह का साहित्यिक माहौल है उसमें ना आपकी कोई बहुत जगह है मैं तो अभी उसका हिस्सा भी नहीं क्यों लिखना चाहती हूँ फिर शायद अच्छा, भीतर की कोई चीज़ है जिसको हम पकड़ना चाहते हैं हमेशा कोई समथिंग सो इल्यूसिव और आप उसको लगातार कोशिश करते हैं कि वो चीज़ सही तरीके से उसको हम पकड़ के और उसको ट्रांसलेट कर दें शब्दों में क्या क्या क्या उसको all, कैसे पकड़ लिया जाए वो इतना एब्स्ट्रैक्ट है हाँ। वो शायद दिखता भी नहीं कई बार कई बार नींद में आप जैसे कोई सपना देखते हैं गेटअप इन द मॉर्निंग आपको याद नहीं होता हम्म। आपको सिर्फ ये याद होता है कोई सपना देखा था तरह की एब्यूसिव चीज़ है जिसको आप continuously when you sit and write आप कोशिश करते हैं वो फ्लीटिंग इमोशन को हम कहीं से डाल दें इसके अंदर इमोशंस अलग अलग तरीके से उनको पकड़ लें या उसका कुछ स्थापत्य भारी फैला हुआ अलग अलग दिशाओं में एक स्ट्रक्चर की तरह खड़ा उससे कुछ कन्फ्रंट करती हैं खुद को आप हाँ मतलब ये हमेशा रहता है कि फ्लीटिंग इमोशंस की बात सिर्फ इसलिए बोली कि वो सब चीज़ों को जो कि शायद हम लोग देख नहीं पाए पाते परसीव भी कई बार नहीं कर पाते कोई और लिख देता है आपको तुरंत लगता है कि अरे ये चीज़ ये तो हम सोच रहे थे ऐसा ये ये तो मेरा इमोशन था किसी और ने पहले कर दिया आपको आप छूट गए आप फिर कोई चीज़ अपने भीतर कोई चीज़ निकालना चाहते हो फिर सिर्फ निकालना नहीं होता उसको आप बहुत बड़ा बहुत फैलाव दे बहुत सारी चीज़ें उसमें डालना चाहते हैं जैसे लाइफ जैसे लाइफ होता है ना जीवन जैसे होता है उसमें सब चीज होता है वैसे ही बड़ा बड़ा बड़ा उसमें आसमान है तारा है पता नहीं क्या क्या है all those things that sometimes we can not even begin to understand right now all those things सब पकड़ के मैं ठीक सवालों में फ्रेम नहीं हुआ ये भी मेरी एक पुरानी दिक्कत है खैर इससे अलग मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो साहित्य का राजमार्ग है जहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं किसके लिए और क्यों के शाश्वत सवाल पूछे जाते हैं भले इससे इतर सामाजिक संरचना में साहित्य की उपस्थिति दो कौड़ी की हो गई हो तो वो एक प्रकाशन संबंधित छपाई संबंधित अखबारों में चर्चा संबंधी एक अलग साहित्यिक राजमार्ग इसे इतर मन की मोहब्बत में जिस पतली सड़क पर आप साइकिल की सवारी पे साहित्य खोजने अपना निकलती हैं उसमें आसपास के नज़ारों में वो क्या क्या लेखक हैं वो लेखकों की क्या क्या दुनियाएं हैं वो क्या क्या पीछे का छूटा हुआ साथ के संगत में बना हुआ एक समूचा संसार है जो आपके साथ साथ एक अच्छे किट फुटबॉल की तरह हवा में उड़ा चलता है या एक अच्छी डोलती साइकिल की तरह भागा नशे में अच्छी ढलान पे उतरता चलता है पता नहीं यहाँ अभी मैं लेखकों के नाम लूँ तो वो बड़ा पॉम्पस साउंड करेगा लेकिन मैं नामों की बात नहीं कर रहा मैं पूरी दुनिया हाँ पूरी हाँ। दुनिया किताबों की बात और जैसे इमेजेस जो मुझे पसंद आते हैं जैसी भाषा जैसे अगर सिर्फ हिंदी की बात करें विदेशी साहित्य की बात ना करें एकदम सिर्फ हिंदी की बात करें तो जैसे रेणु की भाषा है वैसी कोई चीज़ लिखने का उसमें उसमें जो मज़ा है ना जो उसको पढ़ते वक्त भी आपको मन करता है कि उसको मैं ज़ोर से एक बार बोलूँ इतने सारे वाक्य होते हैं इतना सारा कॉन्वर्सेशन उसमें होता है always you want to read it aloud कि उसको धीरे धीरे पढ़ते और बोलते और खुद को सुनते हुए भी जो मिठास मिलती है ना वैसी भाषा होनी चाहिए उस तरह की चीज़ लेकिन वो समूची जो दुनिया है उसमें नदी है उसमें खेत है उसमें गांव द्वार के घर किसी सरकारी डॉक्टर का मकान या उस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन खवनई के अलग अलग रूप वो आप शहर के जिस वो मेरी दुनिया नहीं है मैं जानती हूँ वो मेरी दुनिया नहीं है वो शायद कुर्तुल वाली दुनिया ज़्यादा मेरी दुनिया है उस दुनिया के साथ मैं ज़्यादा कनेक्शन फील कर सकती हूँ पर वो एक चीज़ होती है ना कि जो जगह आप कभी गए नहीं उसके लिए भी आपका नॉस्टैल्जिक फील करना रेणु की दुनिया वही है जो मेरी दुनिया नहीं है बावजूद इसके मैं मुझे लगता है कि वो मेरी दुनिया है वो शायद मेरी अपनी दुनिया से भी कहीं ज़्यादा मुझे मेरी लगती है एक sense of being at home वाली फीलिंग होती है जैसे अगर अभी मैं कुछ पुरानी तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट देखती हूँ वो शायद मेरे पेरेंट्स के भी पहले के समय की चीजें हों इमीडिएटली ये ये ये, ये आपका कुछ हमेशा से जो जुड़ाव रहा है लॉन्ग कार्रवाई का पीछे लॉर्ड के in the mood for love के इंटेंस रोमान में उतरना या माई ब्लूबेरी नाइट्स को भी इंटेंस कुछ रोमान में ही वर्तमान जबकि उसका स्क्रिप्ट काफ़ी हार्श है आ, उसको एक इंटेंस रोमान में ही पोर्ट्री करना उसी तरह से आपका ये जो बार बार सुनहली पारदर्शी नोस्टालिया के रोमान में पीछे लौट जाना है उसे बाहर लेकिन साहित्य दूसरे बहुत सारे अन्य रास्तों पर भी तो जाता है उसके साथ आप सुर साधने की कोशिश नहीं करते वो किन शक्लों में दिखता है वो क्या है ऐसा आपके साथ भी है तो आप भी लिखाई में हमेशा पीछे लौटते हैं अभी अब अगर हम मेरी लिखाई से हटके हम आपकी लिखाई पे आए तो आपने जितनी चीजें लिखी है पतंगशील हम छोड़ दें अगर वो एक अलग ही ऑनर है उसको छोड़ दें फिर हम इधर आते हैं मुक्त गद्दे और बाकी चीज़ें आप लिखते हैं और 20 साल बाद छोड़ दें अगर फिर तो आप जो लिख रहे हैं वो भी कहीं हमेशा आपके बचपन के दिनों की तरफ जो संस्मरण आपने लिखे हैं संस्मरण भी नहीं कहेंगे संस्मरणात्मक लेख जो लिखे आपने जो आपने किताबों की अलमारी लिखी थी जो आपने सिनेमा वाला गल्प लिखा अभी मेरी चीन यात्रा जो है वो भी अतीत का पाठ नहीं है और जो कुछ छोटी मोटी रचनात्मक चीज़ें मैंने लिखी हैं मुझे नहीं लगता उनकी मात्रा इतनी है जिससे अतीताग्रही होने का मुझ पर ऐसा कुछ आरोप आपने शायद जितना हो सकता है हो सकता है आप जो कह रही हैं उस आपने जितना ब्लॉग लिखा है कई बार दिन में तीन तीन चार चार पोस्ट भी कभी कभी छह पोस्ट भी छः भी और ज़्यादातर इधर आपने थोड़ा इतना कम किया है पर पहले आपके हर दिन कोई ना कोई पोस्ट दो दिन एक दिन ऐसे हर एक दिन में तीन पोस्ट ऐसे होता ही था तो इतना क्वांटिटी उसमें है हम्म। हमेशा उसकी लौटाई जो है अतीत की तरफ ही रही की तरफ है। होती है वो आपके राउरकेला के दिनों के बचपन के दिन होते हैं इसमें होता है पीछे आंगन में पेड़ होता है आप बंगाली और मलयाली और बिहारी पड़ोसी होते हैं एक दुनिया होती है जैसे आपकी आपने वो लिखा था ना किताबों के अलमारी में मिताली होती है और तापस होता है all those things are hard back to your days spend in round आपके लिखाई में हमेशा रिश्ता होता है जो टूटा हुआ होता है जो टूटता होता है उसकी टीस होती है उसमें उसमें वर्तमान की कोई खुशी नहीं होती है it's like you yearning for something back all the time ऐसा लगता है कि जो पहले आपने जो जी लिया वही अच्छा था और अब जो जी रहे हैं वो कहीं हमेशा पीछे की अच्छी चीज़ों को देख कर कर रहे हैं वो आपके रेफरेंस पॉइंट्स हैं बाकी आगे बहुत चीज़ें आप करना चाहते हैं बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत सारी योजनाएँ बहुत सारी किताबों के बारे में हमने बहुत बार बात की है वो सब है लेकिन हर चीज़ का रेफरेंस पॉइंट क्या है आपने जितनी चीज़ें लिखी वो सब भी बेस उसका वही तो ज़मीन जो आपकी लिखाई की है वो सब पहले के दिनों की पुराने दिनों की और फिर एक पीरियड ऐसा है जो आपने कम्प्लीटली गायब कर दिया ऐसा क्यों पता नहीं है मैं उसको इस तरह से नहीं देख पाता आप कह रही हैं तो वो हो सकता है मेरी लिखाई की एक बड़ी अभी तक की सीमा रही होगी तो ये सीमा की बात नहीं है हम्म। इसमें जैसे आपने मुझे कहा तो वो मेरी लिखाई की सीमा नहीं थी और अब मैं जो आपके लिखाई पर जो टिप्पणी कर रही हो वो आपकी सीमा नहीं है it's just that when we are doing thing हम अलग अलग चीज़ें करते हैं हम अलग अलग रास्तों पे सुर पकड़ने निकलते हैं मंसूर का गायन एक होता है राई पूरे का दूसरा होगा कुछ बट या तो कोलते भी अलग अलग गायन रफ़ी और किशोर अलग है शास्त्रीय है पॉप है गुलशन नंदा है इब्ने सफ़ी हैं और और कार्रवाई थी आपने दो फिल्मों का नाम लिया उसकी एक बड़े बहुत अच्छे हैं उसके बावजूद कंप्लीट पिक्चर नहीं बनता कंप्लीट पिक्चर क्या होता है वो फिर एक बड़ी अनोखी वैसी ही बहस है जैसे विनोद कुमार शुक्ल का कोई उपन्यास कंप्लीट है या आप उसे पृष्ठ छियालीस से पढ़ना शुरू कीजिए सतर बाहर निकल जाइए तो कुछ आप, बच्चों आपकी, के आपकी लिखाई में वो की जा सकती है हम देश में ये कर सकते हैं हम यहाँ तक कि चीन यात्रा में भी ये कर सकते हैं मुझे लगता है आज के समय में दुनिया में जो बने बनाए रूपाकारों की उन्नीसवीं सदी वाली <clears throat> बालजाक बाल्जाक हों दोस्तवेस्की हों दूसरे और धुरंधर उपन्यासकार थे वो जो ठोस ढांचाबद्ध दुनिया थी वो अब पूरी तरह से आ, कुछ अप्रासंगिक हो गई है तो उसमें अच्छे पाठ जो हैं मुझे लगता है वो वही होंगे जिनकी ना कोई शुरुआत होगी और ना जिनका कोई अंत होगा अच्छे उपन्यासकार वही होंगे हाँ। जिनमें आप कहीं भी घुस सके और कहीं भी निकल जाए बिल्कुल वही बात जैसे मैं कपुचिंस्की पढ़ रही हूँ मैं उसको शुरू से लेके नहीं पढ़ रही हूँ मैं कहीं से भी पढ़ती हूँ उसको मैं कोई सा भी चैप्टर पढ़ती हूँ मुझे जैनजी बार पढ़ने का मन होता है तो मैं वो वाला पढ़ती हूँ इट्स लाइक दैट और मुझे लगता है कि ये ब्लू हाईवे जो पढ़ रही हूँ उसमें भी आई कैन डू दैट अब कि मैंने बाकायदा <laughs> एक पेज से स्टार्ट किया पर वो हर जगह की छोटी छोटी कहानी है आप हमारे अपने संदर्भ में भी विनोद कुमार शुक्ल का नौकर की कमीज भले थोड़ा अपनी संरचना में पारंपरिक है लेकिन उससे इतर खिलेगा तो देखेंगे ख़ास तौर पे दीवार में खिड़की रहती थी भी आप कहीं से भी पढ़ के कहीं से निकल सकती हैं और वही शायद एक बड़ी वजह है जिसने बहुत सारे ऐसे पाठकों को अपनी मोहब्बत में तारा जिनका आम तौर पे हिंदी साहित्य से कोई भी किसी भी तरह का संबंध नहीं लेकिन एक वो भी उसकी मोहब्बत में फंसे बावजूद इसके ऐसी चीज़ों का जो रस है वो अलग है फिर भी कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो आप शुरू से पढ़ें और उसको एक क्रम में एक लगातार आप पढ़ते मैंने पढ़ा पढ़ा तीन दिन पहले जो ख़त्म किया मोहम्मद हनीफ का ख़त्म हो गई किताब case of exploring mangoes it's amazing book in spite of whatever limitations? Yeah, जबकि मैंने So books should be that, that also. Yes, that is what like, I Like like like like some men, uh, some uh, some some nashila drink that you not. get into when you are reading. Uh, it it should just depend upon your mood. तो आपने जो ये सारी बातें इसलिए हमने की कि आपने जब कहा कि आप हमेशा अतीत में जाते हैं वो एक सुर है वो एक फ्लेवर है जिसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं फिर एक फ्लेवर ऐसा भी होगा जो हम कहीं और चले जाएंगे कहीं जो मेरे दिमाग में कई बार किताब की जो एक मेरी इच्छा है ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि अर्जेंटीना में रह के आप बिहार के बारे में लिखें बिल्कुल या बिहार में रह के आप मैं झारखंड के बारे में लिखूं उसमें झारखंड भी हो और उसमें कौन जाने कहाँ के देश भी हों क्योंकि हमारे भीतर बहुत सारी कौन जाने कहा के देश अपने में बड़ी रोचक अवधारणा है कौन जाने कहा के देश में कौन जाने कहा का लेखक और कौन जाने कहा का स्पेस और टाइम और कौन जाने कहा की मोहब्बत में कौन जाने कहा का <laughs> ओह कितना तो प्यारा पाठक ये जो है साहित्य की एक अपने तरह की समझ हो सकती है जो ये बने बनाए कैटेगरीज हैं उनसे इतर खुद फिर अपने रेफरेंसेस बना सकती है और वो सर्कुलर जाएगा like a spiral it go go go go expand माने वो एक क्लोज सर्कल नहीं होगा वो फैल जाएगा it will spiral upwards outwards उस तरीके के मल्टी लेयर्ड दिखाई उस तरह की साहित्यिक कुछ एडवेंचर उस तरफ नेह भरी नज़रों से देखते हुए हिंदी ब्लॉगिंग और हिंदी प्रकाशन में हम कातर भाव से कहीं क्यों खड़े हैं कातर भाव से कहीं नहीं खड़े हम कुछ इस दम्ब से खड़े हैं कि हम अपनी चीज़ कर रहे हैं और हम कहीं नहीं जाएंगे इसको प्रोजेक्ट करने के लिए उसकी एक रत्ती भी आकांक्षा नहीं है इन्हीं के बीच कुछ कुछ तलाशते रहना कुछ होते रहना कुछ खत्म हो जाते रहना में ही हम कुछ बुनेंगे आपस अच्छा, में मिलेंगे कुछ अच्छा सा संगीत और कहाँ कहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हो जो आपने कभी अचेतन में सुना और एक पारदर्शी सांझ का नीला जाने कहां तक किस देश तक तो फैला आकाश हो हा? और वहाँ से छूटती कोई मीठी आवाज़ हो और यहाँ से आप बिना कुछ बोले फुसफुसाते एक बातचीत में शामिल हो कहते हो हाँ हाँ यहीं यहीं वहाँ वहाँ भी ऐसा कुछ और काहिरा और माराकेश और पता नहीं कौन कौन सी जगह की छोटी गली में कोई छोटी सी दुकान में बैठकर लोगों को सिर्फ देखते हैं एक कोने में चुपचाप दुनिया देखते हुए वहां से वो फिल्म का जो छोटा वहाँ से झारखंड देखते वहां से जो आपने एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया था Paul Newman Abdul Rahman Sissako की फिल्म का एक छोटा सा टुकड़ा जो था माली था जिसमें एक छोटी बच्ची रियाज कर रही है हाँ वो भी आ? हाँ। और ये न्यूमन वाली वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है पेरिस ब्लूज हाँ और कैमरा मूव कर रहा है उसी संगीत के साथ साथ सबके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा दिखता है कभी हाथ पे कभी आँख पे कभी एक्सप्रेशन पे वेरी स्लोली वेरी स्मूथली कोई जर्क नहीं है it's just it like music या या आ, वो फ्रीदा कालो वाली फिल्म देखी थी कुछ दिन पहले and there was a dance sequence in it and there was that wonderful wonderful singer जिसका नाम हम बार बार भूल जाते हैं let it be let it all be let be the good and even though we forget names we still remember the music. That's the best part. The literature of music, literature of adventure, literature of pardarshi saaj ke neele aasman और काहिरा के किसी तंग गली में कहवा घर से झारखंडी दोस्त को मोहब्बत में याद करने की आह कैसी तो कि जब झारखंड में हो तो कहवा घर काहिरा की याद आए काहिरा में हो तो झारखंड चीख चीख कर बुलाए हाँ? ऐसे ही ट्रैजिक है मेरे मोहब्बत के जोहार कि लाइफ हमेशा ऐसे ही इस तरह न कर ऐसी मीठी पुकार कितना किया हमने शोर और कितना किया साहित्य का कारोबार